डीसीपी डिसूजा सर ने फूलों के बुके को विक्रांत के सिर पर रगड़ डाला जिससे उसके रखे हुए फूलों की पंखड़ियां झड़कर जमीन पर गिर पड़ी लेकिन इसके बावजूद डिसूजा सर काफी गुस्से में लग रहे थे वो लगातार विक्रांत के सिर पर बुके से मारे जा रहे थे विक्रांत को भी उसकी उस हरकत पर काफी गुस्सा आ रहा था अभी तक वो उनकी उम्र का लिहाज करके कुछ बोल नहीं रहा था लेकिन अब उसके बर्दाश्त करने की हद पार हो चुकी थी उसने चिल्लाते हुए कहा क्या कर रहे हैं आप आपको दिखाई नहीं पड़ रहा मेरे मेरे सिर में चोट लगी है टाके लगे हैं वहाँ साले कमीने डिसूजा ने अपनी व्हील चेयर पर हाथ पटकते हुए कहा वापस चलो मुझे वापस ले चलो विक्रांत काफी कंफ्यूज हो गया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब हो क्या रहा है डिसूजा सर ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं क्या आ, आप अंदर नहीं जाएंगे विक्रांत ने सवाल किया नहीं जब तुमने मेरा फूल ही तोड़ डाला तो फिर क्या लेकर जाऊंगा डिसूजा ने जवाब दिया क्या पागल वागल क्या है ये आदमी मन ही मन विक्रांत ने सोचा मैंने तोड़ा अरे छोड़ो यार विक्रांत कुछ कहना चाहता था लेकिन बीच में ही अपनी बात रोक दी और फिर उसने डिसूजा सर की व्हील चेयर वापस गाड़ी की तरफ घुमा दी चलो जिसमें आप खुश रहो वही कर लो वापस लौटते समय विक्रांत ने डिसूजा सर को एक वार्निंग भी दे दी कि अगर आपने फिर से अपना शूज निकाला तो फिर मैं नहीं उठाने वाला फिर आपको नंगे पैर ही जाना पड़ेगा इस वार्निंग के बाद डिसूजा सर ने एक बार भी अपना शूज बाहर नहीं निकाला वहाँ वैन के पास पहुँचने के बाद फिर से city bureau chief Sanjay sir तुरंत बाहर निकल कर आए और उन्होंने विक्रांत की तरफ थोड़ी हैरानी भरी नजरों से देखा विक्रांत ने उनकी इस उत्सुकता का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि वो खुद अकेले ही डिसूजा सर की व्हील चेयर को वैन के भीतर चढ़ाने लग गया उसे ऐसा करते देख संजय सर भी उसकी मदद करने में जुट गए डिसूजा सर की व्हील चेयर को अंदर वैन में डालने के बाद संजय सर ने राहत की सांस ली मानो उनके सिर का बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो विक्रांत तुरंत वहां से मुड़कर मंजू के घर की तरफ जाने लगा लेकिन तभी सिटी चीफ साहब ने उसे रुकने का इशारा करते हुए बुलाया विक्रांत एक मिनट फिर विक्रांत के साथ ही सिटी चीफ संजय कोहली भी मंजू के घर की तरफ चल पड़े अभी वो दोनों कुछ ही कदम चले होंगे कि सिटी चीफ ने अपनी जेब से एक पीले रंग की कवर चढ़ी हुई काफी पुरानी सी नोटबुक निकालकर विक्रांत के हाथ में रख दी ये डिसूजा सर ने तुम्हारे लिए भेजा है हुँ? हम्म, मेरे लिए क्या है इसमें विक्रांत ने बेहद हैरानी के साथ डायरी के पन्नों को पलटते हुए कहा उस डायरी में काफी कुछ लिखा हुआ था कई सारे नंबर लोगों के नाम और कुछ स्केच भी बने हुए थे आप आप लोग मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं सर मुझे क्यों दे रहे हैं ये डायरी विक्रांत ने संजय से पूछा city bureau chief Sanjay sir के चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कान आ गई उन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए पूछा विक्रांत थोड़ी देर पहले से जब तुम डिसूजा सर को लेकर अंदर आ रहे थे तो वो बार बार अपना शूज निकाल रहे थे क्या हाँ निकाल तो रहे थे क्यों विक्रांत काफी कंफ्यूज था उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था संजय सर ने गहरी सांस ली और फिर बोले सर सरकोमा का नाम सुना है क्या क्या मैं समझा नहीं विक्रांत ने जवाब दिया डिसूजा सर को बोन ट्यूमर है ये बात डिसूजा सर को बहुत देर से पता चली उनके दोनों पैर खराब हो चुके हैं डॉक्टर्स ने बताया कि अगर उनके पैर का ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाल दिया जाएगा और फिर कीमियोथेरेपी भी कर दी जाएगी तब जाकर वो चार पांच महीने और चल सकते हैं लेकिन डिसूजा सर ने ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया ओह डिसूजा सर यानी कि अब वो ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हे भगवान विक्रांत को ये सब तो पता ही नहीं था इस वक्त उसे डिसूजा की हालत के बारे में सुनकर हैरानी से ज्यादा दुख हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले उसे डिसूजा सर पर गुस्सा भी आ रहा था लेकिन अब उनकी हालत के बारे में जानने के बाद विक्रांत को काफी तकलीफ हो रही थी उनके बाएं पैर में थोड़ी बहुत जान है वो हमेशा इसे हिलाते हुए कुछ न कुछ करते रहने की कोशिश करते रहते हैं ताकि उन्हें कुछ आशा बनी रहे इससे उन्हें खुशी मिलती है समझे तुम इसीलिए वो हमेशा अपने जूते निकालने की कोशिश करते रहते हैं संजय सर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा डिसूजा सर ने कहा था कि अगर तुम उन्हें साथ लेकर वैन में वापस आते हो तो तुम्हें ये नोटबुक देना है संजय सर ने विक्रांत के हाथ में पड़ी नोटबुक की तरफ इशारा करते हुए कहा लेकिन अगर तुम अकेले वापस आते या डिसूजा सर अकेले वापस आते तो मैं इस नोटबुक को उनके डिसूजा सर की लाश के साथ ही जला देता ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था ओह विक्रांत शॉक्ड रह गया इस नोटबुक में क्या है सिटी चीफ संजय कोहली ने मुस्कुराते हुए कहा तुमने वडाला हत्याकांड के बारे में सुना है उस साल शायद तुम पैदा ही हुए रहे होंगे हाँ सुना है शायद उसमें कई लोगों का एक साथ मर्डर हुआ था क्या विक्रांत ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया हम्म, तुम तुम ये डायरी संभाल कर रखना इसमें डिसूजा सर की लाइफ के पांच सबसे बड़े बड़े केस का रिकॉर्ड है ये ऐसे केसेस हैं जो सिर्फ मुंबई में बल्कि वो ना सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे भारत में बहुत फेमस रह चुके हैं लेकिन अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हो सके है डिसूजा साहब ने अब ये नोटबुक तुम्हारे हवाले की है अब तुम समझ जाओ तुम्हें क्या करना है अच्छा तो डिसूजा सर चाहते हैं कि मैं इन सभी केसेस को सॉल्व करूं विक्रांत अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज था लेकिन लेकिन डिसूजा सर मुझसे ही ये सब केस क्यों सॉल्व करवाना चाहते हैं मेरा मतलब कि वो ये डायरी मुझे ही क्यों दे रहे हैं हम्म, तुम इस डायरी को डिसूजा सर की अमानत समझ कर रखो संजय सर ने बेहद सीरियस होते हुए कहा तुमने तो डिसूजा सर के बारे में सुना ही होगा वो अपने जमाने में कितने तेज तर्रार ऑफिसर थे अब जैसे जैसे वो बूढ़े होते जा रहे हैं उन्हें पता था कि अब वो पहले जैसे काम नहीं कर सकते इसीलिए वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहे थे जो उन्हीं की तरह शार्प माइंड वाला और तेज तरार ऑफिसर हो फिर जब तुमने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तभी से उनकी नजर तुम पर थी मैं अब, मेरे ऊपर नजर थी विक्रांत ने चौंकते हुए कहा वो तुम्हारे काम करने के अंदाज से बहुत प्रभावित थे वो हमेशा तुम पर नजर रखते थे तुम जिस डेडिकेशन के साथ केस सॉल्व करते हो और आखिरी दम तक हार नहीं मानते इससे वो बहुत खुश होते थे वो तुम्हारे भीतर खुद की जवानी देखते थे जब तुम्हारा ट्रांसफर ओल्ड केस डिपार्टमेंट में हुआ था तब तो उन्होंने मुझसे शर्त भी लगा ली थी उन्होंने मुझसे तभी कह दिया था कि देख लेना विक्रांत कोई ना कोई ओल्ड केस भी जरूर सॉल्व करेगा हमारे बीच इस बात को लेकर शर्त लगी थी और बाद में मैं शर्त हार भी गया था <laughs> अब तुम समझे डिसूजा सर ने ये डायरी सिर्फ तुम्हें ही क्यों दी है इस डायरी के साथ ही डिसूजा सर तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दे रहे हैं वो चाहते हैं कि इस डायरी में जिन केसेस के रिकॉर्ड हैं उन्हें तुम सॉल्व करो विक्रांत अपने हाथ में पड़ी डायरी को बड़े ध्यान से देखने लगा उसके दिमाग में कुछ चल रहा था कुछ पल शांत रहने के बाद संजय कोहली सर ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा क्या हुआ क्या सोच रहे हो अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब केस नहीं सॉल्व कर सकते या तुम इस पर काम नहीं करना चाहते तो फिर कोई बात नहीं तुम मुझे ये वापस कर दो मैं मैं इसे डिसूजा सर की बॉडी के साथ ही जला दूंगा हाँ ये बात है विक्रांत ने अपने हाथ में ली हुई पीली रंग की इस डायरी को देखते हुए कहा देखो विक्रांत मुझे पता है कि इस डायरी में जिन भी केसेस के रिकॉर्ड दर्ज हैं वो सभी काफी कॉम्प्लिकेटेड केस हैं काफी पुराने केस हैं सबूत गवाह भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे और आज तक ना जाने कितने डिटेक्टिव इस पर काम कर चुके हैं लेकिन मुजरिम को पकड़ नहीं पाए खुद डिसूजा सर भी इन केसेस को सॉल्व नहीं कर पाए हैं लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो ये कोई मामूली केस नहीं है इसमें से बहुत सारे केसेस सॉल्व करने के लिए सरकार द्वारा लाख लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है इनाम का नाम सुनकर विक्रांत की आंखें चमक उठी वो काफी उत्सुकता से संजय सर की बातें सुन रहा था तुम्हें हमारी तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा तुम जैसे चाहो वैसे काम करो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें और केस सॉल्व हो गया तो फिर तुम्हारी प्रमोशन भी पक्की विक्रांत ये सब बातें सुनकर हंसने लगा अभी ये दोनों मंजू के घर के गेट के पास ही खड़े थे वहाँ कुछ कम लोग मौजूद थे सो विक्रांत को इस तरह से हंसते देख सिटी चीफ संजय सर को थोड़ा अजीब लगा उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी मजाक वाली बात कह दी कुछ देर तक हंसते रहने के बाद विक्रांत ने जवाब दिया मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं आपके इशारे पर नाचना शुरू कर दूं, आपके हिसाब से केस सॉल्व करूं और ये सब नेशनल लेवल के केस हैं। पूरे देश में इनकी चर्चा हो चुकी है आप आपको लगता है कि मैं ये सब केस अकेले सॉल्व कर सकता हूँ मजाक कर रहे हैं क्या आप ये सब मेरे बस का नहीं है मैं मैं नहीं करने वाला विक्रांत की बातें सुनकर चीफ संजय सर को काफी अजीब लगा उन्हें विक्रांत से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी अब उन्हें खुद पर ही पछतावा हो रहा था कि आखिर उन्होंने विक्रांत को ये डायरी क्यों दी अच्छा ठीक है फिर संजय सर ने डायरी वापस लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया लेकिन तभी विक्रांत ने हाथ पीछे खींच लिया कोई बात नहीं कोई बात नहीं मेरा नाम विक्रांत है विक्रांत सक्सेना और दुनिया का कोई भी मुजरिम ऐसा नहीं है जिसे विक्रांत ना पकड़ सके <laughs> विक्रांत ने शैतानों की तरह हंसते हुए कहा आप महाराष्ट्र के डीजीपी साहब को जानते हैं तो सर प्लीज मेरे प्रमोशन की भी बात कर लीजिए अभी से और और वो इनाम वाले नोटिस की फोटो मेरे पास भेज दीजिए ताकि मैं उसे बीच बीच में देखता रहूं क्या है ना उसे देखकर मैं मोटिवेट होता रहूंगा <laughs> इतना कहते हुए विक्रांत ने उस पीली डायरी को अपने पेंट की जेब में डाल लिया सिटी चीफ संजय साहब भौचक्के होकर विक्रांत को देखते रहे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डिसूजा सर ने इस सिरफिरे को डायरी देकर सही डिसीजन लिया है या गलत